परम पिता परमात्मा का स्मरण सत्योपदेष्टा सतत प्रेरक परमात्मा ओम का उच्चारण Oh. धर्म प्रेमी सज्जनों आज के वेद मंत्र के स्वाध्याय में प्रार्थना का विषय है एक भक्त को एक आर्य को परमात्मा से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तैतालीसवें सूक्त के ये दो मंत्र हैं दूसरा और तीसरा परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है निवेदन कर रहे हैं कि हे शकुने शकुनी परमात्मा को शक्तिशाली गान करने वाला ये मान करके संबोधित किया जा रहा है जैसे कि पक्षी होता है शकुनी अर्थात पक्षी भी होता है तो परमात्मा को शकुनी के रूप में गान करने वाले के रूप में मधुर बोलने वाले के रूप में संबोधित कर रहे हैं हे शकुने उदगाता इव साम गायसी आप उदगाता के समान साम का गान करते हो करो यज्ञों में सामवेद का गान होता है सामवेद भक्ति का वेद है संगीत का वेद है गान विद्या उसमें होती है उदगाता साम का गान करता है तो जैसे यज्ञों में उदगाता लोग मधुर स्वर से साम का गान करते हैं ऐसे आप भी मेरे लिए शाम का गान करो भक्ति को बताओ बड़े मधुर स्वर में गा करके मेरे लिए भक्ति को बताओ शाम को बताओ आगे कहा ब्रह्मपुत्र इव सवनेशु शंससी ब्रह्मपुत्र के समान सवनों में यज्ञों में आप प्रशंसा करते हैं जैसे यज्ञों में ब्रह्मपुत्र शंसन करता है स्तुति करता है विभिन्न वाक्यों से विभिन्न मंत्रों से ऐसे ही आप भी यज्ञों में श्रेष्ठ कार्यों में हमारी स्तुति कीजिए यहां परमात्मा से जो भी प्रार्थना की जा रही है परमात्मा ऐसा करने के स्वभाव वाला है वो ऐसा करता है वो हमारे लिए मधुर भक्ति का उपदेश करता है वो अच्छे कार्यों में हमारी प्रशंसा करता है ऐसे परमात्मा को निवेदन किया जा रहा है आप मेरे लिए मधुर गान प्रदान करो उपदेश प्रदान करो और अच्छे कार्यों में मेरी प्रशंसा करो आगे कहा वृषेव बाजी आप वृष के समान वृषभ के समान अत्यंत बलवान हैं सामर्थ्य युक्त हैं <clears throat> वेगवान हैं मुझे भी इन सब पदार्थों की प्राप्ति कराइए शिशुमति अपीत्या हम शिशु वाले होकर के संतानों वाले होकर के आपकी स्तुति करें आपको ही पुकारें आपके ही पाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें जो गृहस्थी हैं उनके लिए ये प्रार्थना संगत होगी गृहस्थी संतानों की कामना करता है उसे संतान की कामना करनी चाहिए और संतान को प्राप्त करके संतान वाले होके उसे फिर परमात्मा को पुकारना चाहिए परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए संतानों को पा करके संतानों में ही ना लग जाए संतानों तक ही ना अटक जाए इसलिए कहा हम संतानों को पा करके भी आपको ही भजें आप हमारे लक्ष्य सदैव बने रहें सर्वतो न शकुने भद्रमावदा हे शकुने हमारे लिए सब ओर से भद्र को बोलो उस कल्याण को उस भद्र को श्रेष्ठ को बोलो जो मुक्ति को देने वाला है एक आर्य एक भक्त सबसे बड़ी प्रार्थना मुक्ति के लिए करता है और उसे पता है कि मुझे मुक्ति प्राप्ति के लिए मुक्ति संबंधी प्रेरणा सतत चाहिए और ये प्रेरणा परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दे सकता है तो परमात्मा से कहा है शकुने सब ओर से अच्छी तरह से पूरी तरह से सर्वत्र मुझे मुक्ति के लिए प्रेरणा करो मुक्ति के बारे में बताते रहो और कहा विश्व तो न शकुने पुण्यमावद हे शकुने हे सुख को देने वाले सबके लिए और सब ओर से पुण्य कर्मों को बताएं कौन से पुण्य कर्म होते हैं कौन से पाप कर्म होते हैं इन्हें परमात्मा से अधिक कोई अच्छा नहीं जान सकता तो हे प्रभु हमारे लिए सदा पुण्य कर्मों को बताइए क्या अच्छा है ये बताते रहिए हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमें आपकी ओर से सतत ये ज्ञान मिलता रहे कि ये पुण्य कर्म है हमें ये बोध बना रहे कि ये जो मैं कर रहा हूं ये पुण्य ही है जो पुण्य है उसकी प्रेरणा दीजिए मैं उसको ही करना चाहता हूं अगले मंत्र में भी इसी तरह की प्रार्थना की गई आवदस्तम शकुने भद्रमा वद हे शकुने आप बोलते ही हो हमें बताते ही रहते हो हमारे लिए भद्र कल्याणकारी बातों को बताते रहिए तूष्णिम आसीन सुमतिम चिकित्धीन और आप जो प्रेरणा देते हो वो कैसे चुपचाप बैठे हुए देते हो माता पिता जैसे उपदेश देते हैं कुछ बोल करके गुरुजन जो उपदेश देते हैं कुछ बोल करके ऐसे कुछ शब्दों से बोल के आप उपदेश नहीं देते आप तो अंतर्यामी रूप में अंदर विद्यमान है वहां चुपचाप बैठे हुए बिना मुख के हमारे को अंदर ही अंदर बोलते हो प्रेरणा देते हो और अंदर चुपचाप बैठे हुए आप अपने उपदेशों से मेरे हृदय को ऐसा बना दो कि ये हृदय आपके निवास के योग्य बन जाए एक भक्त की भाषा है महर्षि दयानंद ने उसको इस रूप में प्रस्तुत किया है कि हे ईश्वर आप चुपचाप बैठे हुए ऐसा उपदेश दे दो मेरे अंदर ऐसी भावना ऐसी सत ज्ञान की स्थिति बनी रहे कि वो आपका घर बन सके आर्य को ये पता है भक्त को ये पता है कि यदि मेरे अंदर दुर्भावनाएं रहेंगी दुर्विचार रहेंगे तो परमात्मा सर्वव्यापक होने से वहां रहता हुआ भी वहां पर विद्यमान नहीं रहेगा उसे मैं परमात्मा का घर नहीं कह सकता क्योंकि परमात्मा का घर बनने के लिए मेरे हृदय को पवित्र भावनाओं विचारों से युक्त तो होना होगा होना चाहिए यदि मैं अज्ञान से युक्त तो हूं अपवित्र भावनाओं से युक्त तो हूं तो इसे मैं परमात्मा का घर नहीं बना सकता मैं परमात्मा को कैसे आह्वान करूं कि आप मेरे हृदय में आइए बस जाइए यहां सर्वदा यहीं रहिए तो हे प्रभु आप चुप रहते हुए ही मौन रहते हुए ही ऐसा ज्ञान दीजिए कि ये मेरा हृदय आपके रहने लायक पवित्र बन सके तूष्णीम आसीना चुपचाप बैठा हुआ सुमतिम चिकित्ना ऐसी सुमति प्रदान कर अच्छी बुद्धि प्रदान कर आगे कहा यत उत्पतन वदसी हे प्रभु आप जो भी बोलते हो वो हमेशा ऊपर उठाने वाला होता है उत्पतन हमेशा ऊपर उठाते हुए ही आप बोलते हो आपका जो जो बोलना है आपका जो जो उपदेश है वो मुझे ऊपर ही उठाने वाला होता है आप हमेशा हम सबको ऊपर उठाते हुए बोलते हो ऐसे ही बोलिए कर करे जो कर्तव्य कर्म है आवश्यक कर्म है श्रेष्ठ लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा ही मैं करता रहूं आप सदा ऐसा ही उपदेश देने वाले हैं पुण्य कर्तव्य कर्मों को धर्म को ही पूरी तरह करने का आप उपदेश देते हैं कि हम इन धर्म कर्मों को पूरे पुरुषार्थ के साथ में करते रहें आप मुझे प्रेरणा देते रहिए यथा बृहत वदेम विदथे सुबीरा जैसे कि बड़े बड़े कार्यों में शुभ कर्मों में हम आपको ही बोले आपकी ही स्तुति करें जैसे श्रेष्ठ कर्मों में सुवीरों की प्रशंसा होती है ऐसे ही आपकी भी प्रशंसा होती रहे और हम हर अच्छे कार्य में आपकी स्तुति करें आपकी प्रशंसा करें आपकी कृतज्ञता को स्वीकार करें आपके आभार को माने आपके सहयोग को स्वीकार करें ये भावना भक्त की होनी चाहिए आर्य की होनी चाहिए ईश्वर के प्रति ये बात इन दो मंत्रों में कही गई परमात्मा हमें सतत उपदेश देता रहता है उसका ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है और उसका उपदेश बड़ा मधुर होता है वो चुपचाप होता है वो बिल्कुल ठीक ठीक होता है जब परमात्मा का उपदेश सर्वदा विद्यमान है वो कभी उपदेश देना बंद नहीं करता लेकिन फिर भी परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि आप अपना सदुपदेश हमारे लिए देते रहो इसका निहितार्थ ये है कि हम परमात्मा के उपदेश की कामना करने वाले बने हम परमात्मा के उपदेश को ग्रहण करने वाले बने हम इतने संवेदनशील बने कि परमात्मा के उपदेश को ग्रहण कर सके जब व्यक्ति परमात्मा के प्रति झुका हुआ नहीं होता है परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं रख रहा होता है तो वो संसार के प्रति श्रद्धा भक्ति चला रहा होता है वो संसार की सोच रहा होता है भौतिक सुख साधनों की सोच रहा होता है धर्म अधर्म उल्टे सीधे विभिन्न विचारों को कर्मों को करता रहता है और इन स्थितियों में परमात्मा का उपदेश ग्रहण करने की स्थिति नहीं होती है हमारा मन दूसरी तरफ लगा है हम दूसरी वस्तुओं की तरफ आकर्षित हैं तो परमात्मा का उपदेश विद्यमान होते हुए भी हमें पकड़ में नहीं आता हम उसे ग्रहण नहीं करते आर्य अपने को व्यर्थ की बातों से रोक करके व्यर्थ के विचारों से रोक करके अधर्म से हटा करके ईश्वर की ओर उन्मुख रखता है अपने को अंदर से ईश्वर के प्रति उद्घाटित रखता है दरवाजे अपने परमात्मा के लिए खुले रखता है प्रतीक्षा करता है कि कब परमात्मा का कोई संदेश आए इस कार्य में परमात्मा की क्या दृष्टि है परमात्मा का क्या संदेश है वो उस ओर ताकता रहता है देखता रहता है अंदर ही अंदर परमात्मा के उपदेश की प्रतीक्षा करता रहता है और परमात्मा के उपदेश के आने पर वो उसे पकड़ भी पाता है ग्रहण कर पाता है स्वीकार कर पाता है तो एक आर्य को अपने मन में क्या स्थिति बना के रखनी चाहिए जिससे कि वो मुक्ति तक पहुंच सके जिससे कि वो इस जीवन को अच्छा चला सके तो परमात्मा की तरफ उन्मुख रहते हुए परमात्मा की तरफ अंदर ही अंदर टकटकी जैसी लगाए रखते हुए अपने को परमात्मा के उपदेश के लिए सहज स्वीकार्य स्थिति में रखते हुए चलना होता है और जब व्यक्ति ऐसे चलता है तो उसको जहां जहां आवश्यकता प्रतीत होती है वहां वहां परमात्मा का संदेश परमात्मा का निर्देश प्राप्त होता है अपने राग और द्वेष को हटा करके अपने मिथ्या ज्ञान को अलग रखते हुए जब हम परमात्मा के प्रति पूरे हृदय से पूरी तत्परता से पूरी भक्ति से खुल जाते हैं और परमात्मा के उपदेश में ही अपना हित समझते हैं एकदम निश्चय से तो परमात्मा के उपदेशों को ग्रहण करने की हमारी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है परमात्मा का हर उपदेश हर संकेत हमें मिलने लगता है हमें प्राप्त होने लगता है और उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारे कार्य ठीक ही होते हैं हमारे कार्य पुण्य ही होते हैं हम गलत कार्यों की तरफ बढ़ते ही नहीं है गलत कार्य हमारे से होंगे ही नहीं अपने ज्ञान के आधार पर संसार से प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम कितने भी जागरूक रहें कुछ न कुछ त्रुटि हो जाएगी यदि ठीक ज्ञान प्राप्त भी कर लिया है लेकिन हर क्षण वो उपस्थित रहे पूरी जागरूकता से सूक्ष्मता से हम देख सकें कि ये ठीक है ये गलत है वो नहीं हो पाता है लेकिन जब हम परमात्मा की तरफ इस प्रकार की प्रार्थना को रखते हुए उन्मुख रहते हैं तो एक भिन्न प्रकार की सात्विकता और शांति हमारे पास रहती है संवेदनशीलता सुग्राह्यता सुग्राहिता बहुत अच्छी रहती है तो हम उस संदेश को पकड़ पाते हैं और किसी आत्मा का जो सर्वश्रेष्ठ जागरूकता का क्षण होता है कोई मनुष्य कितना जागरूक हो सकता है सबसे अधिक उच्च स्थिति में वो तभी हो सकता है जब वो ईश्वर के प्रति इस प्रकार से समर्पित रहते हुए खुला रहते हुए चलता है परमात्मा की ओर से आने वाली प्रार्थना उपदेश उसमें कोई दोष नहीं हो सकता परमात्मा के हर संकेत में शुद्धता ही रहती है इसलिए उसके कर्म भी शुद्ध ही हो जाते हैं तो आर्यों को अपने मन में भक्तों को अपने मन में इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए ये वेद का उपदेश है और महर्षि दयानंद ने इसे एक भक्त के हृदय से हम सबके हित के लिए भाष्य के रूप में लिखा आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो स्वामी जी आपने कहा कि परमात्मा के प्रति उन्मुख रहने से व्यक्ति सबसे अधिक जागरूक होता है परमात्मा के प्रति उन्मुख तो कोई व्यक्ति तब हो सकता है जब कुछ बहुत अधिक सुन लिया पढ़ लिया बोल लिया इस स्थिति को भी तो प्राप्त करना इतना सरल नहीं है ठीक है ये कार्य की प्रार्थना है जो अनार्य हैं दुष्ट हैं वो परमात्मा की तरफ उन्मुख रह ही नहीं पाते ये वो व्यक्ति है जिसने एक अच्छे स्तर पर अपने को बना लिया है और इस महत्व को वो समझता है कि ईश्वर की ओर उन्मुख रहने के क्या लाभ है लेकिन संस्कार वशात अभी वो रह नहीं पाता है पूरा भौतिक सांसारिक संस्कारों के कारण से बार बार उधर जाता है ये एक उस स्तर का व्यक्ति बोल रहा है कि मैं परमात्मा की तरफ सर्वदा उन्मुख रहूं परमात्मा के ज्ञान को मैं सदैव प्राप्त करता रहूं तो उस व्यक्ति को इस आर्य को परमात्मा का महत्व तो पता है परमात्मा को वो जानता है परमात्मा के स्वरूप से परिचित हो चुका है और ज्ञान का महत्व है शुभ कर्मों का महत्व है इसको वो भली प्रकार जानता है अब अपने को उसमें परिष्कृत करने के लिए शुद्धतम स्थिति में पहुंचाने के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं जो बहुत निम्न स्तर के हैं जो अधर्म में लगे हैं उनको तो यही कहा जाएगा कि गुरुजनों की मानो माता पिता के मानो संविधान के अनुसार चलो इत्यादि बातें ये जो स्थूल हमारे नियंत्रक हैं उपदेशक हैं उनके अनुसार ही चलने के लिए उसको होगा वो इस स्तर पर नहीं जा सकता वो उतना भी चल देगा तो उसके लिए वहां पर्याप्त है लेकिन जब वो ऊपर जाएगा और जिस सूक्ष्मता से यहां कहा जा रहा है मानसिक स्तर पर वृत्ति के स्तर पर ज्ञान प्राप्ति के स्तर पर उतना दुनिया का कोई भी सहायक नहीं हो सकता उपदेष्टा नहीं हो सकता उपदेशक हमारे सामने कितनी देर उपदेश करेगा गुरु हमें कब कब बताएगा कब कब हमारे साथ में रहेगा ये आंशिक उपदेष्टा है माता पिता सलाहकार कब तक हमारे साथ में रहेंगे जिस उच्च स्तर की बात ज्ञान के उच्च स्तर की बात सूक्ष्मता की बात चाहिए वहां सतत निगरानी चाहिए वहां सतत प्रेरणा चाहिए इसलिए परमात्मा विश्वतः सर्वतः सब ओर से हमें सतत देता रहे अत्यंत गहन निर्देश की स्थिति में वो जो उच्च स्थितियां होती हैं वहां के लिए प्रार्थना है जब कोई रोगी बहुत हो सूक्ष्म चीज चल रही हो सूक्ष्म परीक्षण चल रहा हो तो एक नहीं अनेक उसको देखते हैं लगातार निगरानी में रखते हैं उसको जिस उच्च ज्ञान की स्थिति को ये आर्य चाहता है जिस उच्च स्थिति में परमात्मा का साक्षात्कार होता है जिस उच्च स्थिति को पाने के बाद में सारे कुसंस्कार दग्ध हो जाते हैं उस उच्च स्थिति के लिए परमात्मा का सहयोग परमात्मा की प्रेरणा सतत आवश्यक है नहीं तो कहीं अंधकार ना आ जाए संस्कारों के कारण से अल्पज्ञता के कारण से अल्प सामर्थ्य के कारण से कुछ न कुछ अज्ञान कुछ न कुछ कालापन असावधानी आ सकती है ये परमात्मा की सतत <clears throat> कामना कर रहा है परमात्मा की प्रेरणा की कामना कर रहा है उसे पता है उसके रहते हुए अंधकार नहीं आ सकता जैसे सूर्य निकला हो बादल नहीं हो खुले में तो वहां अंधकार नहीं रह सकता ये कामना है कि नहीं सूर्य बना रहे अन्य प्रकाशों में न्यूनाधिकता हो सकती है इस स्थिति को वो बहुत ऊंचे स्तर पर एक प्रार्थना की गई और जो इस ओर उन्मुख हो रहे हैं उनके लिए भी ये प्रार्थना है वो भी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा मुझे सतत प्रेरणा करता रहे मैं उसको जानने समझने पकड़ने के लिए तैयार रहूं ये जो एक साधना स्तर पर प्रारंभ करता है उन सबके लिए भी भक्तों के लिए भी ये प्रार्थना है बाह्य स्थूल कार्यों को करते हुए भी और उससे बाह्य कार्यों में कोई बाधा नहीं आती है जब प्रारंभ में ये यत्न करता है स्वाभाविक नहीं बनता उसका तब तो बाधा हो जाती है वो ये सोचता है मैं ईश्वर का सोचूंगा तो एक काम नहीं हो पाएगा लेकिन अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति बन जाती है कि अंदर वो जागरूकता भी बनी रहती है और बाह्य कार्य भी चलते रहते हैं वो उसके अंदर रच बस जाता है उसमें प्रविष्ट हो जाता है उसके हृदय में उसके मस्तिष्क में और जहां कुछ विशेष भी होता है तो वो विशेष भी परमात्मा की ओर उन्मुख होता है और परमात्मा विशेष भी दे देता है लेकिन वो इतना रच बस जाता है जागरूक रहता ही है वो अंदर ही अंदर ऐसा हो जाता है स्थूल कार्यों में भी ऐसा होता है हमारे कि साइकिल चलाते हुए कुछ भी बातचीत कर रहा है और कर रहा है लेकिन साइकिल गिर ना जाए इधर उधर ना हो जाए वो उसकी जागरूकता सूक्ष्मता से बनी रहती है वो चलता रहता है कुछ इस तरह से जहां भी कोई दिक्कत आई उसी समय वो सावधान होता है उसी समय वो रुक जाता है सामर्थ्य होता है बिल्कुल यहां भी ऐसा ही होगा अंदर ही अंदर ये सोच जागरूकता बनी रहती है हमारी बार इसे कहा जो चलना साइकिल चला बसना घूमना उसको तुम्हारी बार से एक कार्य करता है लेकिन तेजी से करता है इसलिए लगता है कि एक साथ होगा मन के स्तर पर एक एक बात है ये लेकिन योग दर्शन में आप देखेंगे कि एक समय में अनेक बातों का ध्यान रख पाना एक है वैशेषिक और न्याय के स्तर पर ठीक है सूक्ष्मता से वहां बहुत तीव्रता से चल रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि सब एक साथ चल रहे हैं स्थूल कार्यों में भी ऐसा होता है और वहां भी होता है इससे हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता कि एक समय में एक कार्य कर रहा है तो हम दूसरे कार्य में बाधा होगी वो इतना तेजी से हो रहा है कि वो एक समय में एक होते हुए भी वो हर समय हर कार्य जैसा है उसके लिए जो दर्शन में उदाहरण दिए जाते हैं अलात चक्रवत जैसे कि बच्चे फुलझड़ी जलाते हैं और उसको तेजी से घुमाते हैं तो वो अनेक जगह दिखाई देता है होता एक ही जगह फुलझड़ी की अग्नि एक ही जगह होती है लेकिन दिखाई अनेक जगह देती है और यदि इसको बहुत तेज करें तो एक गोल चक्र बन जाता है हमें वो गोल चक्र ही दिखाई देगा है एक ही जगह पे लेकिन हमें गोल चक्र ही दिखाई देगा जैसे पंखे की तीन पंखुड़ियां हैं लेकिन जब वो तीव्र गति से चलता है तो हर स्थान पर पंखुड़ी दिखाई देती है उसमें कोई बाधा नहीं आती जैसे चलचित्र में एक चित्र आता है फिर दूसरा चित्र आता है फिर तीसरा चित्र आता है क्रमशः आते हैं लेकिन एक मिनट में यदि 25 चित्र आ रहे हों 25 फ्रेम आ रहे हों या उससे अधिक आ रहे हों तो हमें वो टुकड़े नहीं दिखते कि ये चल रही वो क्रमशः ही हमें दिखेगा इसलिए यदि अत्यंत सूक्ष्मता में जाके हम ये भी मान लें कि एक समय में एक ही करता है तो भी ये चीज हो सकती है दूसरा ये जो बात है कि मन एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ता है एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ता है वहां पर हम इसको लगाएं परमात्मा मन में भी है परमात्मा मन में भी है और ये जो परमात्मा की प्रेरणा है वो मन में विद्यमान है उसके लिए मन को अतिरिक्त श्रम नहीं करना होता कि जैसे वो इंद्रियों से जुड़ता है एक एक इंद्रिय से ऐसे परमात्मा से भी जुड़े ये तो प्रारंभिक साधक के लिए होता है कि वो बाह्य वृत्तियों में रहता है तो अंतर्मुखी नहीं हो पाता लेकिन ये जो अंदर का भाव है परमात्मा का भाव है वो बना रह सकता है अंदर ही अंदर बना हुआ रह सकता है क्योंकि वो परमात्मा अंदर ही है वहां पर उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं या तो बहुत तीव्रता वाला भी समाधान है और ये परमात्मा के अंदर रहने वाला भी समाधान है लेकिन वो अनुभूति सतत बनी हुई रह सकती है की जा सकती है वो हमें सतत ही प्रतीत होगी और कोई तो मन में आज की प्रार्थना को रखते हुए वेद मंत्र के उपदेश को अंतर रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिषधय शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवाः शांति सर्व शांति शांति शांति सामा शांति ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको साथ नमस्ते ओम शुभ